अनोशो टॉक धर्म की यात्रा नंबर वन बहुत से प्रश्न आए हैं बहुत से प्रश्न आए हैं प्रश्नों का पैदा होना बड़ी शुभ बात है प्रश्न पैदा होने लगे युद्ध का प्रारंभ हो जाए है दुर्भाग्य तो उन लोगों का है जिनके भीतर प्रश्न पैदा ही नहीं होते और उतना ही दुर्भाग्य नहीं है कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके भीतर उत्तर इकट्ठे हो गए हैं और प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रही बहुत लोग ऐसे हैं जिनके भीतर उत्तर तो बहुत है प्रश्न बिल्कुल नहीं है और होना ये चाहिए कि उत्तर तो बिल्कुल न हो और प्रश्न रह जाए लेकिन प्रश्नों का उत्तर दूं उसके पहले आपको यह कह दूं कि मेरा उत्तर आपका उत्तर नहीं हो सकता है इसलिए कोई इस आशा में न हो कि मैं जो उत्तर दूंगा वो आपका उत्तर बन सकता है प्रश्न आपका है तो उत्तर आपको खोजना होगा प्रश्न आपका हो उत्तर मेरा हो तो आपके भीतर द्वंद कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगी आपके भीतर समाधान नहीं आएगा और ये हमेशा से हुआ है प्रश्न हमारा होता है उत्तर महावीर का होता है बुद्ध का होता है कृष्ण का होता है और जब उत्तर दूसरे का होता है तो हमारा प्रश्न नष्ट तो नहीं होता दब जाता है इसलिए मैं जो उत्तर दे रहा हूं इस ख्याल से नहीं कि आप मेरे उत्तर को पकड़ लेंगे वो भूल हजारों वर्ष से हो रही है किसी के भी उत्तर को पकड़ना नहीं उसने पूछा है एक प्रश्न मुझसे पूछा है कि फिर मैं क्यों समझा रहा हूं फिर मैं क्यों कह रहा हूं फिर मैं क्यों उत्तर दे रहा हूं अगर मैं मानता हूं कि दूसरा मनुष्य कोई उत्तर नहीं दे सकता तो मेरे उत्तर देने का क्या प्रयोजन मेरे उत्तर देने का प्रयोजन भी आपको मैं स्पष्ट कर दूं मेरे उत्तर देने का प्रयोजन ये नहीं है कि आप उसको स्वीकार कर लें मेरे उत्तर देने का केवल इतना ही प्रयोजन है आपके भीतर विचार पैदा हो आप उस पर सोचना शुरू कर दें हम में से बहुत से लोगों ने सोचना बंद कर दिया हम सोचते ही नहीं हमने सोचना दूसरों पर छोड़ दिया मैं एक, उपन्यास पढ़ता था उस उपन्यास में वो कोई 500 वर्ष बाद आने वाली दुनिया का उपन्यास है उसमें एक आदमी कहता है अपने नौकर से कि जाओ मेरी पत्नी को प्रेम कराओ क्योंकि मुझे प्रेम करने की फुर्सत नहीं जरूर एक वक्त आएगा कि हम प्रेम भी दूसरों से करवाने लगेंगे जब हमें फुर्सत नहीं होगी तो हम किसी से कहेंगे कि जाओ और प्रेम करो हमारी तरफ से प्रेम करो हम तो हंसी आती है इस बात को जान के कि कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है कि प्रेम हम लोगों से करवा लें क्योंकि हमारे पास समय की कमी है लेकिन वही काम आप सत्य के संबंध में बहुत दिनों तक करिए आप दूसरों से करवा लेना चाहिए मेरा प्रयोजन ये नहीं है कि मैं आपका काम कर दूं मेरा प्रयोजन ये है कि आपको ये स्मरण दिला दूं कि आपका काम आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं कर सकता मेरे भीतर आपके उत्तर नहीं होंगे लेकिन मेरे भीतर आपके भीतर प्रश्न को गहरा करने में सहयोगी हो सकते उत्तर नहीं हो सकते लेकिन प्रश्न को गहरा और स्पष्ट करने में सहयोगी हो सकते और दुनिया में बड़े बड़े लोग हुए हैं उनका असली काम आपको ऊपर देना नहीं आपके भीतर प्रश्नों को जगा देना वस्तुता महावीर या पुत्रों को उत्तर नहीं दिए हैं बल्कि आपके भीतर प्रश्नों को जगा दिया है जो प्रश्न आपके भीतर सोए थे उन्होंने सजग कर दिए और जब किसी के भीतर प्रश्न जग जाए पैदा हो जाए तो प्रश्न पीड़ा देने लगता है परेशान करने लगता है उसका हल खोलना नहीं होता लेकिन हम सारे लोग तरकीबें निकाल देते हैं किसी उत्तर को मान लेते हैं और प्रश्न से जो पीड़ा पैदा होती है उसको नष्ट कर देते हैं मैं आपके प्रश्नों को नष्ट करने से नहीं वे और सजग तीव्र पहले और तीव्र हो जाए वही मेरी आकांक्षा है इसलिए मेरे उत्तर को आप अपने मन में न रख लेना वो आपके मन में रखने के लिए नहीं है वो तो आपके मन के भीतर सिर्फ एक विचार एक इंक्वायरी एक खोज पैदा कर सके उसके साथ रखता है ये पूछना है कि मैं क्यों बोल रहा हूं निश्चित ही महावीर से भी पूछा गया होगा कि क्यों बोल रहे हैं से भी पूछा गया होगा क्यों बोल रहे हैं क्राइस्ट से भी पूछा गया होगा क्यों बोल रहे हैं किसी से भी पूछा जाएगा सच में ही ये बात बड़ी विचारणीय है ये प्रश्न बिल्कुल ठीक है जब मैं मानता हूं कि किसी से किसी को शब्द नहीं दिया जा सकता तो फिर क्यों होगा और ये जो उन्होंने पूछा है एक प्रश्न में कि जिसको समाज में उत्पन्न हो गई वो क्यों बोलेगा उसे बोलने का प्रयोजन हो है वस्तुता हम जीवन में जो भी करते हैं किसी प्रयोजन से करते हैं कोई ना कोई तो उसके अंत में लाभ हमारी दृष्टि में होता है तो अगर महावीर को बोलते समय तो हम पूछेंगे कि महावीर क्यों बोल रहे हैं तो कौन तो से प्रॉफिट की कौन से लाभ की इच्छा है बोलने से उनका प्रयोजन क्या है लाभ क्या है हमें ये ख्याल नहीं है कि जीवन में ऐसी क्रियाएं भी हो सकती हैं जिनका होना अपने आप में आनंद है जिनके बाहर कोई लक्ष्य नहीं है आप किसी को प्रेम करते हैं आपने सोचा कि मैं प्रेम किस लिए कर रहा हूं और अगर आप उत्तर दे सके कि मैं इसलिए प्रेम कर रहा हूं तो आपका प्रेम व्यर्थ हो तो जाएगा कोई प्रेम नहीं जो किसी कारण से हो वो प्रेम नहीं क्योंकि कारण से आपका संबंध हो जाएगा प्रेम नहीं हो जाएगा अगर आप किसी को इसलिए प्रेम कर रहे हैं कि वो सुंदर है तो सौंदर्य के विरुद्ध होने में प्रेम कर जाएगा अगर आप किसी को प्रेम कर रहे हो तो वो गुणवान हो कल अगर उसके गुण गुरु बन जाए अगर आप किसी को स्त्री प्रेम कर रहे हैं जिसके पास बहुत धन है तो आप धन को प्रेम कर रहे हैं गुरु को प्रेम कर रहे हैं सौंदर्य को प्रेम कर रहे हैं लेकिन ये प्रेम नहीं है ये प्रयोजन जीवन में हम चूंकि हर चीज प्रयोजन से करते हैं इसलिए हम पूछते हैं कि, कि हर चीज का प्रयोजन होना चाहिए लेकिन जीवन में जब की शांति का और आनंद का अनुभव हो तो क्रियाएं प्रयोजन शून्य हो जाती क्रियाएं प्रेम से निष्पन्न होने लगती हैं आनंद से निष्पन्न होने लगती अकबर ने एक घटना अकबर के उल्लेख में है मुझे ख्याल आती है कि आपसे कहूँ मैंने बहुत लोगों को उस बात को कहा और मुझे लगा कि वो बात को समझा अकबर ने अपने संगीतक तानसन को एक दफा पूछा था कि तुम इतना अच्छा इतना अच्छा बजाते हो कि मुझे कई दफा ये विचार उठता है कि अगर तुम्हारे गुरु को मैं सुन पाता तो वो नमालूम और कितना अच्छा बजाना हालांकि मुझे विश्वास नहीं आता कि तुमसे अच्छा बजाने वाला भी हो सकता है लेकिन ये मेरे मन में जिज्ञासा उठती क्या तुम्हारे गुरु जीवित हैं तान ने कहा मेरे गुरु तो जीवित थे लेकिन उनको सुनना आसान नहीं वे अपनी मौत से बजाते हैं किसी की आकांक्षा से नहीं बजाते फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप उन्हें सुन सके उसके में फकीर थे और यमुना के किनारे रखते थे रात को चार बजे उन दोनों उठ के वो अपना सितार बजाते तानसिंह ने राकबर ने झोपड़े के बाहर चोरी से सितार को सुना सुनने के बाद अकबर की आंखों से आंसू की झड़ लग गई रात से भर वो बोला नहीं महल में प्रवेश करते वक्त उसने तानसेन से कहा मैं तो एकदम अवाक रह गया हूं तुम तो अपने गुरु के मुकाबले कुछ भी नहीं हो लेकिन तुम्हारा गुरु इतना अद्भुत और अलौकिक बजाने में कैसे समर्थ है उसके संगीत में ये दिव्यता क्यों तानसेन ने कहा मैं इसलिए बजाता हूं कि बजाने के बाद मुझे कुछ मिल जाए उस पर मेरी आशा लगी हुई और मेरे को इसलिए बजाते हैं कि बजाने के पहले उन्हें तो कुछ मिल गया है और वो जो मिल गया है वो बिखरना चाहता है बढ़ना चाहता है मेरी आकांक्षा है मेरा आनंद है बजाने के बाद उनका आनंद है बजाने के पहले उनका आनंद बजाने में प्रकट हो रहा है और मैं आनंद पाने के लिए बजा रहा हूं बजाना मेरा साधन है उनका साधन है और निश्चित ही जीवन में अगर भीतर आनंद उपलब्ध हो तो आनंद का एक लक्षण है वो बटना चाहता है दुख का एक लक्षण है वो सिकुड़ना चाहता है जब आप दुष्ट होते हैं आप चाहते हैं कोई मिले नहीं आप अकेले में चले जाएं एक अंधेरी कोठरी में बंद हो जाएं अगर बहुत ही दुख है तो आप मर जाना चाहते हैं आत्महत्या कर लेना चाहते हैं ताकि किसी से मिलने की कोई संभावना ही न रह जाए दुख में आप अकेले होना चाहते हैं और आनंद में आप सबके साथ होना चाहते हैं तो जो मनुष्य परिपूर्ण आनंद से भर जाता है वो सारे जगत के सांस हो जाते हैं इसलिए तो आपने देखा होगा जब महावीर और बुद्ध और कृष्ण और क्राइस्ट दुखी हैं जब उनके जीवन में दुख है तो हम पाते हैं वे एकांत की तरफ जा रहे हैं और जब उनके जीवन में आनंद है तो हम पाते हैं कि वे बस्ती की तरफ वापस लौट रहे हैं महावीर बारह वर्षों तक जंगल में थे जब वे दुख में थे और जब उन्हें आनंद उपलब्ध हुआ तो वे बस्ती की तरफ वापस लौट आए आनंद बढ़ना चाहता है और रहस्य यह है कि आनंद जितना बढ़ता है उतना बढ़ता चला जाता है इसलिए कोई प्रयोजन नहीं है कोई लाभ का प्रश्न नहीं है कोई अर्थ नहीं है इससे लेकिन अगर किसी को आनंद मिले तो यह अनिवार्य हो जाता है कि वो लोगों से कहते कि आनंद कैसे मिला है अगर किसी को दिखाई पड़ता हो कि सामने रास्ते पर गड्ढा है और आप उस तरफ जा रहे हो उसके प्राण ये कहेंगे वो आपसे कहने के लिए गड्ढा है आप कहेंगे तुम्हारा प्रयोजन क्या है वो कहेगा कि मेरा हृदय तुम्हें तो गड्ढे में जाते देखना संभव नहीं कर पाता नहीं सह पाता मेरी आंखें नहीं बर्दाश्त कर पाती कि तुम गड्ढे में जाओ और मेरा प्रेम नहीं सह पाता कि तुम गड्ढे में गिरो और कोई भी प्रयोजन नहीं जो मैं आपसे कह रहा हूं उसमें कोई भी प्रयोजन नहीं कोई भी अर्थ नहीं मुझे जो दिखाई पड़ता है मुझे लगता है कि वो शायद आपका भी आनंद बन जाए और उसे कहने में उसे आपको बता देने में मेरा आनंद घटता नहीं है और बढ़ जाता है कोई भी प्रयोजन नहीं है कोई लक्ष्य नहीं है आपको कुछ छीनना नहीं है आपको कुछ बदलना नहीं है आपका कोई आपके लिए कोई नया संगठन नहीं बनाना है कोई संप्रदाय नहीं बनाना है पूछा है मुझसे कि क्या आप चाहते हैं कि कोई मत कोई संप्रदाय खड़ा हो जाए ये तो पागलपन की बात है मैं तो सारे मतों को चाहता हूं कि वो विलीन हो जाए तो अगर मैं भी मत खड़ा करूं तो वो मत तो मेरी ही बात का खंडन होगा मैं तो कहता हूं दुनिया में सारे मत विलीन हो जाने चाहिए विवेक विकसित होना चाहिए मत नहीं ज्ञान विकसित हो जाना चाहिए संप्रदाय में संगठन विकसित नहीं होने चाहिए प्रेम विकसित होना चाहिए प्रेम और संगठन में जमीन आप संगठन घृणा पर खड़े होते हैं जितने भी संगठन है दुनिया में सब घृणा में खड़े होते हैं दुनिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रेम का ऑर्गेनाइजेशन नहीं हिंदू इकट्ठे हैं मुसलमान के खिलाफ मुसलमान इकट्ठा है हिंदू के खिलाफ जैन इकट्ठे हैं किसी और के खिलाफ कोई और इकट्ठा है किसी और के खिलाफ हम हमेशा किसी के विरोध में इकट्ठे इसलिए दुनिया में जब विरोध होता है हम एकदम इकट्ठे हो जाते हैं अभी मैं दिल्ली में था लोगों ने मुझसे कहा कि पाकिस्तान और भारत के झगड़े के समय सारा हिंदुस्तान संकित हो गया है उन्होंने बड़े गौरव से कहा मैंने उनसे कहा कि ये सब संगठन घृणा का है विरोध का और हिंसा का जब भी किसी के प्रति घृणा पैदा हो हम इकट्ठे होते हैं और जब घृणा विलीन हो जाए हमारा संगठन विलीन हो जाए महाराष्ट्र के इकट्ठे हो सकते हैं गुजरातियों के खिलाफ तमिल इकट्ठे हो सकते हैं हिंदी बोलने वालों के खिलाफ हिंदुस्तानी इकट्ठे हो सकते हैं पाकिस्तानी के खिलाफ कम्युनिस्ट इकट्ठे हो सकते हैं पूंजीपतियों के खिलाफ जहां भी घृणा है वहीं संगठन इकट्ठा हो जाता है इसलिए धार्मिक संगठन के मैं विरोध में हूं क्योंकि धर्म का कोई संगठन कैसे हो सकता है अगर अगर अगर धर्म प्रेम है तो धर्म का कोई संगठन नहीं हो सकता कोई धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन जैसी चीज सेल्फ कंट्रडिक्टरी है धार्मिक संगठन हो ही नहीं सकता क्योंकि संगठन का मतलब होगा इसके खिलाफ इकट्ठे होना सब संगठन राजनीतिक होते हैं और इसीलिए धर्म के नाम पर खड़े हुए सारे संगठन किसी न किसी रूप में राजनीतिक हो गए राजनीतिक ही संगठन हो सकता है संगठन धार्मिक नहीं हो सकता प्रेम का कोई संगठन नहीं हो सकता तो मैं कोई न संगठन खड़ा करना चाहता हूं न कोई संप्रदाय न कोई मत मैं तो अपनी बात है वो आपको कह देना चाहता हूं इसलिए भी नहीं कि आप उसे मान लें केवल इसलिए कि आपके भीतर एक विचार एक खोज पैदा हो जाए अगर खोज पैदा हो जाए तो मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ संभव हो सकता है एक प्रश्न पूछा हुआ है कि मनुष्य के भीतर वासनाएं हैं उनका तो संयम करना ही होगा व्रत लेने होंगे तो क्या मेरी दृष्टि में व्रत और संयम का कोई उपयोग है मेरी दृष्टि में न तो व्रत का कोई उपयोग है और न संयम का कोई उपयोग है निश्चित ही आपको बात थोड़ी सी परेशान करने वाली लगेगी क्योंकि हम तो मानते हैं कि अगर संयम नहीं होगा तो जीवन गया हम तो मानते हैं कि व्रत नहीं होगा तो जीवन रहे लेकिन मैं आपको कहूं जो संयम लिया जाता है जो व्रत लिया जाता है वो लेने के कारण झूठा होता है एक आदमी हिंसक है और वो संयम करता है और कोशिश करता है कि मैं अहिंसक हो जाऊं एक आदमी क्रोधी है और वो संयम करता है और व्रत लेता है कि मैं अक्रोधी हो जाऊं एक आदमी लोभी है संयम करने की कोशिश करता है कि मेरा लोभ थोड़ा कम लेकिन आप हैरान होंगे उसका ये संयम केवल दमन बन जाएगा केवल सप्रेशन बन जाएगा उसके भीतर कोई परिवर्तन तो नहीं होगा वो एक दमित व्यक्ति हो जाएगा और दमित व्यक्ति के बड़े खतरे हैं क्योंकि उसने जिस चीज को दबाया है वो हर बार बाहर निकलने की चेष्टा करेगी चौबीस घंटे बाहर निकलने की चेष्टा करेगी और तब नए नए रूपों में उसकी दमित वृत्तियां बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी मैं एक जगह गया एक साथ वो मेरे पहले गांव तो कुछ लोगों को समझाते थे उन लोगों को समझाया कि अगर तुम्हें स्वर्ग पाना है तो तुम सब तरह के लोगों का त्याग कर दो अभी थोड़ी विचार में बात है उन्होंने कहा अगर तुम्हें स्वर्ग पाना है तो तुम सारे लोग का त्याग कर दो मैंने कहा कि इनमें से जो लोभी होंगे वो स्वर्ग पाने के लोभ से लोगों के त्यागने की कोशिश में लग जाएंगे लेकिन लोग लोग उनके भीतर मौजूद रहेगा आप जरूरी मत समझना कि जो आदमी संसार छोड़ के सन्यासी हो गया वो लोभी नहीं है हो सकता है वो आपसे ज्यादा लोभी हो इसलिए सन्यासी हो गया उसका लोभ इतने में तृप्त ना होता उसकी जो ग्रीड है बहुत गहरी है वो परमात्मा को भी पाना चाहता है स्वर्ग को भी पाना चाहता है मोक्ष को भी पाना चाहता है सभी पाना चाहता है एक क्षुद्र बुद्धि आदमी परमात्मा को पाने चला है एक क्षुद्र सी बुद्धि का आदमी मोक्ष पाना चाहता है आपका लोभ तो सम्यक भी मालूम होता है कि धन पाना चाहते हैं पद पाना चाहते हैं उसका लोग बहुत असम्यक है वो मोक्ष पाना चाहता है छोटी सी बुद्धि का कैसा अद्भुत पागलपन है कि हम परमात्मा को पाना चाहते हैं लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं परमात्मा को पाना है ये बहुत गहरे लोग ही लोग इनकी ग्रीड का कोई अंत नहीं ये छोटी मोटी दुकान पाने से तृप्त नहीं है ये छोटे मोटे मकान को पाने से तृप्त नहीं है ये तो पूरे स्वर्ग का राज्य भी चाहते हैं लेकिन ये सारे लोग लोभ को छोड़ने में लग जाएंगे और हमको लगेगा कि निर्लोभी हो रहे हैं ये निर्लोभी बिल्कुल नहीं है और यही वजह है इन लोगों ने जो स्वर्ग की कल्पना की है उसको आप देखें उसमें क्या है उसमें कल्प वृक्ष जिनके नीचे बैठ के तो जो भी इच्छा हो पूरी उसी वक्त पूरी हो जाए जरूर किसी लोभी ने ये कल्पना की है ये किसी लोभी की कल्पना हो सकती है कि स्वर्ग में कल्प वृक्ष है उसके नीचे बैठिए तो जो भी इच्छा करिए एकदम पूरी हो जाएगी देर नहीं लगेगी आपने इच्छा की और वो पूरी होगी जरूर बहुत अद्भुत लोगों ने यह कल्पना की होगी स्वर्ग की कल्पना है कि वो महल है अप्सराएं हैं किन्हीं के स्वर्ग की कल्पना है कि वहां शराब के चश्मे बहते हैं तो जो ये कहते हैं कि जमीन में शराब ना पियो वो कहते हैं कि वहां स्वर्ग में शराब के झरने बहते ये लोगियों की कल्पना है और क्या तो जो कहते हैं यहां स्त्री को देखना मत वहां सारी सुंदर स्त्री और अप्सराएं स्वर्ग में नाच रही हैं उन्हीं लोगों के सामने जिन्होंने संयम किया है ये उनकी दमित कल्पनाएं दमित वासनाओं का रूपांतरण है जो अपनी वासनाओं को दबा रहे हैं वो उन वासनाओं की तृप्ति के विचार कर रहे हैं स्वप्न देख रहे हैं कि स्वर्ग में अप्सराएं नाचेंगी शराब के झरने बहेंगे कल्प वृक्ष होगा इस आशा में इस लोभ में बेचारे छोटे मोटे छोटे मोटे सुखों को छोटी मोटी तकलीफों को सह रहे हैं तपस्या कर रहे हैं नियम ले रहे हैं व्रत ले रहे हैं ये सब लोग का खेल और लोभ का ही दूसरा रूप होता है दंड इन्हीं मोदियों ने कल्पना की है कि नरक में बहुत तकलीफ दी जाएगी बहुत परेशान किया जाएगा और क्योंकि हर मुल्क में तकलीफें अलग अलग होती हैं इसलिए हर मुल्क के लोगों की नरक की कल्पना भी अलग अलग अगर आप तिब्बत में उनसे पूछें कि नरक में क्या होता है तो वो कहते हैं नरक में बहुत ठंड होती क्योंकि तिब्बत में ठंड तकलीफ अगर हिंदुओं से पूछें कि नरक में क्या होता है तो वहां अग्नि की लपटें जल रही क्योंकि हिंदुस्तान में अग्नि तकलीफ गर्मी तकलीफ अगर हिंदुस्तानी को कहीं तिब्बतियों के नर्क में पहुंचा दिया जाए तो एयर कंडीशन मालूम हो वो बड़ी शीतलता है बड़ी ठंडक है अगर तिब्बतियों को हिंदुस्तानियों के नर्क में पहुंचा दिया जाए तो स्वर्ग मालूम होगा वहां आग जल रही तो बड़ी गर्मी बड़ा सारी दुनिया में हमारे लोग ने अनेक अनेक कल्पनाएं कर ली और फिर बहुत से लोग इनसे प्रभावित हो जाते हैं बहुत गहरे तत्व जिनका लोग है वो प्रभावित हो जाते हैं और इस लोभ के लिए कुछ लोग छोड़ने लगते हैं वो कहते हैं कि वो सही नहीं है उन्होंने घर छोड़ा क्योंकि बड़ा घर पाने की इच्छा न लगे और फिर इस तरह के लोग जब दमन करेंगे अपने भीतर इच्छाओं को दबा लेंगे तो इच्छाएं नष्ट नहीं होती दमन करने से कोई इच्छा नष्ट नहीं होती है दमन करने से कैसे नष्ट होगी एक आदमी अपने सेक्स का दमन कर ले तो नष्ट कैसे हो जाए 24 घंटे वो आदमी सेक्स ही सेक्स के संबंध में सोचने लगेगा जिन जिन कोमों में सेक्स के प्रति दमन का भाव है उन कोमों के लोग 24 घंटे सेक्स का ही विचार करते हैं इस मुल्क में तो ये हुआ है इस मुल्क के दिमाग जितने सेक्सुअल हैं जमीन पर और किसी मुल्क नहीं हो सकते आप जितना ज्यादा सोचते हैं सेक्स के बाबत कोई नहीं सोचता सोचेगा ही नहीं आपने दमन की पैदा कर दिया एक बचपन से ही पागलपन दिमाग में भर लिया है और वो पागलपन तीव्रता से आप दमन करते चले जाते हैं वो इकट्ठा होता चला जाता है और उसके परिणाम विस्फोट में होते आपका व्यक्तित्व विकृत हो जाता है और टूट जाता है जरूर मेरी बात सुनकर ऐसा अच्छा लगेगा मैं ये कह रहा हूं सब वासनाओं को खुली छोड़ दी ये मैं नहीं कह रहा मेरी बात सुनकर ये लगेगा कि भी हो जाएगी जो करना है मेरे ये भी मैं नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि संयम लादा नहीं जाता संयम ज्ञान से आता है कोई व्यक्ति सेक्स से लड़के ब्रह्मचर्य को तो उपलब्ध नहीं होता बल्कि अगर सेक्स की सारी प्रक्रिया को बोधपूर्वक जान ले परिचित हो जाए सेक्स की सारी शक्ति से उसका अंतर संबंध हो जाए वो ज्ञान से भर जाए सेक्स के प्रति तो उसके भीतर ब्रह्मचर्य शुरू हो जाए अगर कोई व्यक्ति अपने क्रोध को जान ले क्रोध से मुक्त हो जाए क्रोध के दमन से कोई क्रोध से मुक्त नहीं होता क्रोध के ज्ञान से क्रोध से मुक्त होता आप कहेंगे हम तो रोज क्रोध को जानते हैं हम मुक्त तो नहीं होते आपने कभी क्रोध जाना ही नहीं होगा क्योंकि जो आदमी एक दफा क्रोध को जान लेगा दोबारा क्रोध में नहीं पड़ सकता हाँ आप क्रोध से गुजरते हैं लेकिन क्रोध को जानते हैं और जानते इसलिए नहीं है कि जब आप क्रोध से गुजरते हैं तो आप करीब करीब मूर्छित और बेरोध होते आपने ध्यान किया बड़े से बड़ा क्रोधी क्रोध करने के बाद पछताता है दुखी होता है पश्चाताप करता सोचता है बहुत बुरा किया अब नहीं करूंगा जरा विचार की बात है अभी थोड़ी देर पहले इसी आदमी ने क्रोध किया है और ये आदमी पश्चाताप क्यों कर रहा है क्या आपको कई बार ऐसा अनुभव नहीं होता क्या आपको लगता हो कि मैंने अपने बावजूद क्रोध कर लिया मैं नहीं चाहता था उन्होंने क्रोध कर लिया इसका अर्थ है कि क्रोध में आप मूर्छित होते हैं होश में नहीं दुनिया में कोई आदमी होश में रहते क्रोध नहीं कर सकता आप जरा कोशिश करिए जब क्रोध आए तो होश में रहिए और क्रोध करिए आप पाएंगे दो में से तो एक ही बात हो सकती है या तो क्रोध हो सकता है या होश हो सकता है तो मैं क्रोध के दमन को नहीं कहता हूं मैं कहता हूं क्रोध के बोध क्रोध पर संयम मत लाइए क्रोध को जानिए और परिचित होइए अगर आप क्रोध की पूरी शक्ति से परिचित हो जाएं तो परिचित होने में ही परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाए जिस वृत्ति को आप ठीक से जान लेंगे उसी वृत्ति के बाहर हो जाएंगे जिस वृत्ति से आपका परिचय हो जाएगा आप उसी वृत्ति के मालिक हो जाएंगे और जिस वृत्ति से आप अपरिचित हैं जानते ही नहीं हैं उससे लड़ेंगे देखें अगर मित्र अपरिचित हो चल सकता है शत्रु अपरिचित नहीं होना चाहिए अपरिचित मित्र से कोई नुकसान नहीं होता लेकिन अपरिचित शत्रु से बहुत नुकसान हो जाता है शत्रु पूरी तरह परिचित होना चाहिए विजय का सूत्र है परिचय जो परिचित नहीं है वो हार जाए आप अपने क्रोध से परिचित हैं आप अपने सेक्स से परिचित हैं आप अपने अहंकार से परिचित हैं आपको अपने लोग का परिचय है परिचय तो कुछ भी नहीं है पागल की तरह लोग में पड़े हुए हैं फिर घबरा जाते हैं उपदेश सुनते हैं फिर पागल की तरह लोग के खिलाफ खड़े हो जाते हैं एक दफा मूर्छित लोभ में भी थे फिर दूसरी दफा मूर्छित अलोभ में हो जाते एक दफा क्रोध में मूर्छित थे फिर अक्रोध की साधना में मूर्छित होकर लग जाते एक दफा अहंकार में पागल थे फिर विनय में पागल हो जाते एक दफा गृहस्थी में पागल थे फिर संन्यास होने में पागल हो जाते एक दफा पकड़ने में पागल थे फिर छोड़ने में पागल हो जाते लेकिन पागलपन बना ही रहता सवाल अमूर्छा का है पृथ्वी की प्रत्येक व्यक्ति को सजग होकर जानने और पहचानने का अगर आप जानने और पहचानने में तो समर्थ हो जाए तो जीवन में क्रांति हो जाए कैसे उसे जान सकते हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं उसकी तीन चार दिनों में मैंने भूमिका बनाई है कल आपसे बात करूंगा कि कैसे आप अपनी सारी वृत्तियों को जान सकते मैं संयम के पक्ष में नहीं हूं क्यों क्योंकि मैं दमन के पक्ष में नहीं लेकिन इससे कोई यह ना समझे कि मैं संयम का मूल्य नहीं मानता जो व्यक्ति दमन नहीं करता जो व्यक्ति जानता है पहचानता है वृत्तियों को वही व्यक्ति एक अद्भुत रूप से संयम को उपलब्ध होता है वही व्यक्ति संयम को उपलब्ध होता है दो तरह के असंयम है दुनिया में एक असंयम है भोग का और दूसरा असंयम है त्याग का एक असंयम है दृष्टि का दूसरा असंयम है त्यागी का सन्यासी ये दोनों ही असंयम है ये दोनों ही जीवन अनबैलेंस थे भोगी भोग में पागल है त्यागी त्याग में पागल है एक आदमी स्त्री के पीछे भागा जा रहा है उसको भी मैं पागल मानता हूं दूसरा आदमी स्त्री से बच के भागा जा रहा है उसको भी मैं पागल मानता हूं दोनों मानते हैं कि स्त्री में मूल्य है एक आदमी धन को इकट्ठा करने के पीछे पागल है एक आदमी धन को छोड़ने के लिए पागल है ये दोनों ही मानते हैं कि धन की वैल्यू धन का मूल्य ये दोनों ही असंयमी है एक साधु के बाबत मुझे लोगों ने कहा कोई उनके सामने रुपया पैसा ले जाए तो वो मुंह फेर लेते हैं आंख बंद कर लेते हैं तो मैंने कहा उनको रुपये पैसे से लगाव हो अन्यथा और क्या कारण हो सकता है तो रुपये पैसे से लगाव हो तो कोई आदमी रुपये पैसे से मुंह क्यों फेरेगा रुपये पैसे से कोई लगाव हो वहां एक साधु पीछे हुआ मैं गांव में लकड़ा था लकड़ियां काटता और बेचता और सारा जीवन उसी भांति व्यतीत किया एक बार बहुत वर्षा हुई बहुत दिन पानी गिरा इकट्ठा पानी गिरा और लकड़ियां नहीं लाता रिक्शा मांगने का उसका नियम नहीं था पैसा बात नहीं रखता था जो लकड़ी बिकती थी उसको ही जो पैसा आते उनसे जीवन चलाता तो फिर उसने सात दिन बाद जब खाना बतंग हुआ वो लकड़ियां काटने गया तो उसकी पतंग को उसके साथ से वो लकड़ियां काट के लौटे पतंग आगे थी पत्नी पीछे रास्ते के किनारे पर जी के पास ही एक असर की उसे भरी हुई थैली पड़ी वो पति आगे था पत्नी पीछे थी पति ने सोचा इस थैली पर मुझे तो कोई मोह नहीं आएगा क्योंकि मैंने तो स्वर्ण पर विजय पा मैंने तो जीत लिया सोने लेकिन कभी मेरी पत्नी है भूखी प्यासी है परेशान है तो उसका मोह आ जाए तो व्यर्थ की पाप लगेगा इसलिए उसने उसे गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी कर दी पीछे से उसकी पत्नी आ पहुंची उसने पूछा ये क्या कर रहे हैं सत्य बोलने का उसका नियम था स्मरण रखिए सत्य बोलने का उसका नियम था तो उसने अब सत्य बोलना माना उसने कहा इसलिए मैंने यहां रुके थे मैंने उसको डर दिया कि कहीं मेरा मन पर लोग से न कर जाए पत्नी हंसने लगी और आगे बढ़ गई उसके पति ने पूछा क्या रहा है उसने कहा मैं हैरान हूं तुम्हें अपनी स्वर्ण दिखाई पड़ता और मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि तुम मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे और तुम्हें मिट्टी पर मिट्टी डालने में शर्म नहीं आई वो आदमी जो सोने पर मिट्टी डाल रहा है अभी सोने को मानता है कि सोने का उसे स्वीकार जो आदमी सोने को छोड़ के भाग रहा है वो आदमी सोने को मानता है सोने से भयगी से तो डरा मैं भागने वालों के पक्ष में नहीं हूं मैं बदलने वालों के पक्ष में भागने वाला उसी वृत्ति से पीड़ित होता है जिस वृत्ति से भोग करने वाला पीड़ित होता है तो दोनों की दिशाएं बदल जाती हैं लेकिन पागलपन नहीं बदल जाता दोनों के अर्थ बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ते हैं लेकिन दोनों के अर्थ बिल्कुल समान होते हैं और एक ही चीज से बने होते हैं जीवन बोझ से बदलता है व्रत से नहीं व्रत तो बंधन है और बोझ मुक्ति है और जिसे मुक्त होना हो तो व्रतों में बन जाए तो और प्रसन्न हो जाए और बड़ी जो दिक्कत की बात है वो ये है कि व्रतों में बना हुआ व्यक्ति संयम में बना हुआ व्यक्ति अपने ऊपर नैतिक आचरण को थोप लिया हुआ व्यक्ति वास्तविक नैतिक जीवन से वंचित हो जाता उसके जीवन में कभी वो सहज स्कूल स्पॉन्टेनियस नैतिकता का कभी जन्म नहीं हो सके नैतिकता का सहज स्फूर्त तो जन्म बड़ी दूसरी बात है उसका ही मूल्य है आपके भीतर सत्य आना चाहिए अहिंसा आनी चाहिए प्रेम आना चाहिए लेकिन प्रेम अहिंसा और सत्य आपको छोड़ने नहीं चाहिए उन्हें ओढ़ने नहीं चाहिए वो कोई वस्त्र नहीं है कि आप ओढ़ लें और सत्यवादी हो जाए जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो भीतर से आना चाहिए अगर हम लोगों से कहें कि एक दूसरे को प्रेम करो और तो ऐसा कहा गया ऐसा कहा गया अपने पड़ोसी को प्रेम करो सारे जगत को प्रेम करो अभी एक प्रश्न पूछा है मनुष्यता को प्रेम करो कितनी प्रयोग की बात क्या कोई प्रेम करने की बात है क्या आपने कोशिश की और पड़ोसी को प्रेम करने लगे क्या आपने कोशिश की सारे नगर को प्रेम करने लगे प्रेम कोई एक्शन है क्या क्या आपके करने पर निर्भर है क्या आपने कर लिया मेरे मन में आया मैंने आपको प्रेम कर दिया प्रेम कोई एक्शन नहीं है कोई क्रिया नहीं है स्टेट ऑफ माइंड है आपके भीतर की अवस्था है एक आदमी प्रेम में होता है तो जो भी उसके निकट आया उसको प्रेम करेगा प्रेम में होना पड़ता है प्रेम किया नहीं जाता वो कोई क्रिया नहीं है ऐसे ही सत्य भी कोई क्रिया नहीं है वो बोला नहीं जाता सत्य में हुआ जाता है ऐसे ही अहिंसा कोई क्रिया नहीं है आपके करने से अहिंसा का कोई संबंध नहीं आपके होने से आपके भीतर आपके भीतर एक स्थिति आनी चाहिए एक सत्य का साक्षात होना चाहिए उसके माध्यम से आपके जीवन में क्रांति होगी वैसी क्रांति वास्तविक होगी कि ये जो क्रांति हमें नैतिक दिखाई पड़ती है ये सब दमन की क्रांति है इसलिए नैतिक पुरुष संयम पुरुष बड़ी पीड़ा बड़े दुख बड़े संघर्ष में होता है उसके भीतर निरंतर झगड़ा करता है उसकी वासनाएं कैसी रहती है हमको पूरा करो उसकी बुद्धि कैसी वासनाओं को दबाओ और अपने भीतर जो निरंतर लड़ता है जिसके भीतर रोज रोज कॉन्फ्लिक्ट है उसका मस्तिष्क लड़ने के कारण रोज रोज स्थिर होता जाता है जो अपने भीतर बहुत लड़ता है उसके मस्तिष्क की ताजगी स्फूर्ति नष्ट हो जाती है और सत्य को जानने के लिए मस्तिष्क की स्फूर्ति और ताजगी बहुत जरूरी है अपने भीतर निरंतर निरंतर समस्याओं से घिरे रहने में कोई अर्थ नहीं और जबरदस्ती अपने ऊपर कुछ बातें मत ला अगर अहंकारी अपने ऊपर विनय को लाद लेगा तो इसमें अहंकार नष्ट नहीं होगा वरन विनय में ही तो आदमी अहंकार का मजा लेना शुरू कर आपको ऐसे लोगों का पता होगा जो कहेंगे हम तो बिल्कुल विनम्र हैं हमारे भीतर तो कोई अहंकार नहीं हम तो कुछ भी नहीं है हम तो आपके पैर की भूल है और जब वो ये सारी बातें कह रहे हैं तब आप उनके भीतर पाएंगे कि अहंकार मौजूद है और रस ले रहा है अहंकार इस बात का रस ले रहा है तो बिल्कुल अहंकारी है हम तो कुछ भी नहीं है हम तो भी नहीं ये इससे कोई स्थल नहीं होगा इससे कोई जीवन की समस्या का समाधान नहीं होगा इसलिए मैं इसलिए मैं किसी तरह के दमन संघर्ष जबरदस्ती आरोपण के पक्ष में नहीं जीवन में विकास होना चाहिए क्रोध को जाने परिचित हो पहचाने अहंकार को परिचित हो पहचाने और आप पाएंगे आपके पहचान करने से ही एक परिवर्तन शुरू हो जाए आप क्रोध को जानते जानते पाएंगे कि क्रोध गया आप भय को जानते जानते पाएंगे कि भय गया जहां भी ज्ञान का प्रकाश पड़ेगा चित्त में वही परिवर्तन हो जाएगा यहां हम बैठे हुए यहां अंधकार हो जाए और आप अकेले बैठे हो आपको बहुत भय मालूम पड़ेगा फिर यहां प्रकाश चल जाए भय विलीन हो जाए क्या भय विलीन करना पड़ा या कि प्रकाश के आनंद विलीन हो और एक आदमी अंधकार में बैठा रहा है कि मैं बिल्कुल भयभीत नहीं होता मैं तो किसी से डरता नहीं मेरे शिक्षक थे जब मैं पढ़ता था तो मेरे शिक्षक थे मैं समझता हूं वो बहुत भयभीत आदमी उनकी बातों से ये लगता था वो मुझसे दिन बोले कि कल रात को मेरी रात को बिल्कुल अकेला चला गया मैं बिल्कुल डरा नहीं मैंने कहा डर को डरपोक आदमी मालूम होते हैं ये बात क्या नहीं कही कि मैं मेरी रात को बिल्कुल अकेला चला गया मैं बिल्कुल डरा हाँ बहुत डरेंगे आज मालूम करते हैं अगर डरना हो तो ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं डरता नहीं हूं अगर अहंकार हो तो ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं विनीत हूं तो ये विनय तो अहंकार की ही छाया है अगर लोभ ना हो तो ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं निर्लोभी हूं अगर ग्रस्ती से चित्त मुक्त हो जाए तो ये पता ही नहीं चल सकता कि मैं सन्यासी हूं क्योंकि सन्यासी तो उसी का रिएक्शन वो तो उसी की प्रतिक्रिया है उसी की प्रति छाया है वो तो सच में हम नष्ट हो कभी पता नहीं चलता कि निकल मतलब देते ये पता ही नहीं चल सकता जो सच में सत्य को उपलब्ध हो जाता है उसे पता नहीं चलता कि मैं सत्य बोलता हूं जिसको पता चलता है कि मैं सत्य बोलता हूं उसके भीतर झूठ अवश्य ही उठ रहा होगा लेकिन ये और कैसे होगी कि वह सत्य बोल रहा है सत्य बोल रहा है जिस कहे से प्रेम से भर जाता है उसे कभी पता नहीं चलता कि मैं प्रेम करता हूं क्योंकि प्रेम का पता चलने के भीतर घृणा होनी जरूरी है हम प्रेम होना जरूरी है मैं जो कह रहा हूं दमन करने वाले आदमी को हमेशा पता चलेगा मैं दिनी हूं मैं लोभी नहीं हूं मैं साधु हूं मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं क्योंकि दूसरी चीजें उसके भीतर सब मौजूद और उनके विरोध में वो कुछ हो रहा है अपने भीतर ही जो विरोध में है वो टूट जाए अगर मैं अपने दोनों हाथों को लड़ाऊं इन दोनों हाथों में कौन जीत सकता है कोई भी नहीं जीतेगा लेकिन उनके लड़ाने को मेरी शक्ति जरूर बैर हो जाएगी जब आप क्रोध से लड़ रहे हैं तो किससे लड़ रहे हैं कौन लड़ रहा है आपकी मिशन की दो हिस्सों में बढ़कर लड़ रही है क्रोध की तरफ से भी और अक्रोध की तरफ से भी आप ही अपने दोनों हाथों को लड़ा रहे हैं जब आप अपने सेक्स से लड़ रहे हैं तो कौन लड़ रहा है आप ही लड़ रहे हैं दोनों तरफ से अकेले आप ही बिल्कुल को नहीं अभी मैं ट्रेन में था और एक एक सज्जन अकेले थे मेरे साथ थे वो मेरे डब्बे में उन्होंने बहुत मुझसे कोशिश की कि बातचीत करें फिर मुझे आम बंद देखी उन्होंने अपने सांस के पत्ते निकाले और अकेले ही खेलना शुरू कर दिए खुद ही दोनों तरफ से खेल रहे अब ये आदमी को तो हम कहेंगे पागल है इसमें कोई जीत हार हो ही नहीं सकती पर हो भी जाए इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं जो खुद ही पत्ते बिछाए दोनों तरफ से खेल रहे हैं क्रोध की तरफ से भी वही खड़े हैं अक्रोध की तरफ से भी वही खड़े हैं वासना की तरफ से भी वही खड़े वासना के विरोध में भी वही खड़े और जो आदमी अपने भीतर दो मजबूत से लड़ता है वह आदमी साधक हो जाता है उसके, उसके जीवन में सारा आनंद सारा सौंदर्य नष्ट हो जाए सारा सौंदर्य सारा आनंद संगीत से पैदा हो जाए द्वंद से पैदा नहीं इसलिए मैं कहूं तो आपसे किसी वासना से लड़ना नहीं है वासना को जानना पहचानना परिचित होना और परिचित होने से ज्ञान का प्रकाश करने से आप पाएंगे कि आपके भीतर क्रांति शुरू हो गई कैसे परिचित होंगे उसको हम विचार करेंगे जीवन में कर्तव्य होते हैं उन्हें हम कैसे पूरा करेंगे अगर मेरी बातों को आप ठीक से समझेंगे तो आपको जानना चाहिए मैं कर्तव्य के पक्ष में कैसे हो सकता हूं मैं प्रेम के पक्ष में हूं कर्तव्य के पक्ष में नहीं जहां प्रेम नहीं होता वहां कर्तव्य का विचार पैदा होता जब आप कहते हैं अपने पिता के प्रति कर्तव्य को कैसे पूरा करूं उसका अर्थ पिता के प्रति आपके मन में प्रेम नहीं अगर मैं पूछूं तो कि माँ के प्रति कर्तव्य को कैसे पूरा करूं उसका अर्थ मेरे मेरे मन में माँ के प्रति प्रेम नहीं प्रेम के अभाव से ड्यूटी का ख्याल कर्तव्य का ख्याल और जिसके मन में प्रेम होता है उसे ड्यूटी का कभी भी ख्याल नहीं प्रेम की कमी है इसलिए मैं आपसे कहते कहूं कि आप कर्तव्य करें मैं कहूंगा प्रेम को पूरा करें प्रेम को बनाए कर्तव्य की फिक्र छोड़ दें कर्तव्य तो अपने आप पूरा हो जाए मैं कल ही एक कहानी कह रहा एक भारतीय सन्यासी थे वो वहां अफ्रीका में थे फिर वो भारत यात्रा पर आए और हिमालय गए हिमालय पर एक दिन चढ़ाई में दोपहर को बहुत धूप थी वो अपने छोटे से बिस्तर को बांधे हुए पहाड़ पर चढ़ते थे और तभी उन्होंने देखा कि सामने एक पहाड़ी लड़की दस ग्यारह वर्ष उसकी उम्र होगी वो भी पहाड़ पर चढ़ रही है पसीने से लथपथ है थक गई है उसकी सांस पड़ गई है कंधे पर अपने भाई को बांधे हुए भाई की उम्र तो छोटी है लेकिन वो तगड़ा और बजे लड़की छोटी थी सन्यासी ने सोचा इस लड़की को कितनी परेशानी नहीं हो गई होगी वो खुद भी तो अपने बोझ से परेशान था अपने बिस्तर से परेशान था उसके करीब जब पहुंचा तो सन्यासी ने कहा उस लड़की को कि बेटा बहुत वजन मुझे तो मालूम पड़ रहा उस लड़की ने सन्यासी की तरफ आंख उठाकर देखा उसने कहा स्वामी जी वजन आप लिए हुए हैं ये तो मेरा छोटा भाई छोटे भाई में और वजन में फर्क किसी तराजू पर तोड़ने में कोई फर्क नहीं होगा तराजू पर बिस्तर में भी वजन होगा छोटे भाई में भी वजन होगा ये भी हो सकता है कि बिस्तर ही कम वजन का और छोटा भाई ज्यादा वजन का तो तराजू बता देगा कि वजन किसने ज्यादा है या कितना है तो लेकिन हृदय के कांटे पर छोटे भाई में कोई वजन नहीं है और बिस्तर में वजन प्रेम के कांटे पर जीवन बदल जाता है जब भी हम उससे कर्तव्य करके पूरा करें तब इस बात की सूचना है कि आपके हृदय में प्रेम नहीं है एक पति पूछता मैं अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य कैसे पूरा करूं ये क्या बेवकूफी क्यों बेवकूफी की बात है इसका मतलब है प्रेम नहीं है तो आप कर्तव्य का विचार कर रहे हैं और कर्तव्य हमेशा बोझ होता है प्रेम बोझ नहीं प्रेम आनंद जब दुनिया में प्रेम की कमी पड़ जाती है तो कर्तव्य को सिखाने वाले टीचर उपदेशक पैदा हो जाते हैं वो कहते हैं ये कर्तव्य करो वो कर्तव्य करो ये कर्तव्य करो वो कर्तव्य करो ऐसा करो वैसा मत करो जब दुनिया में प्रेम कम हो जाता है तो कर्तव्य की चर्चा शुरू होती है कर्तव्य बड़ी पतित पूछे कि मैं मैं कर्तव्य कैसे करूं ये समझे कि जब कर्तव्य का ख्याल आ गया तो पहचान लें कि आपके हृदय में प्रेम की कमी पड़ गई आपके भीतर प्रेम नहीं प्रेम को जगाने का प्रेम को उठाने का भीतर प्रेम के स्रोत को खोलने का विचार करें अगर वो विचार नहीं करते और आप कर्तव्य का विचार करते तो हर कर्तव्य आपको परेशान करता जाए हर कर्तव्य में आप इतने परेशान और बेचैन हो जाएंगे कि आपका करने का मन तो नहीं होगा और करना पड़ रहा है और जहां भी मन के विपरीत करना पड़े वहीं जीवन बोझ हो जाता है करीब करीब हम सबका जीवन बोझ इसीलिए है कि हम कर्तव्य धो रहे हैं प्रेम के पंखों पर हम सवार नहीं है कर्तव्य का बोझ हमारे सिर पर सवार है हम कोई प्रेम की यात्रा नहीं कर रहे और यही कर्तव्य का बोझ जब बहुत घबरा देता है आदमी उसका छोड़ो सभी कर्तव्य कन्या हो जाए साधु हो जाए वो प्रेम को तो नहीं सोचता साधु और सन्यासी को नहीं सोचता है जब कर्तव्य बहुत घबरा जाता है तो ये पत्नी और बच्चे सब हतार है ये सब बोझ है इनको हटाओ ये बोझ नहीं है आप आपके भीतर प्रेम की कमी है इसलिए ये बोझ इनका कोई भार नहीं है आपके हृदय में प्रेम का कांटा नहीं है इसलिए ये भारी पड़ गए ये पूरा संसार भी प्रेमी के लिए भारी नहीं है और अब प्रेमी के लिए जरा सा बोझ भी भारी जाए आप भाग सकते हैं दुनिया से लेकिन बोझ से तो मुक्त नहीं होंगे क्योंकि अपने एटीट्यूड को कहां ले जाएंगे तब आप परमात्मा के प्रति भी कर्तव्य करेंगे ड्यूटी वहां भी प्रेम नहीं होगा सुबह रोज भजन कर रहे हैं छह बजे करना चाहिए कर्तव्य है इसलिए कर रहे हैं वो भी बोझ हो जाए रोज रामायण पढ़ रहे हैं वो भी बोझ हो जाएगा क्योंकि ठीक वक्त पढ़ मेरे एक मित्र हैं रोज नियमित पूजा करते हैं वो मेरे घर मेहमान थे ठीक वक्त में जरा देर होने लगी उनका मुझे तो जल्दी से अपनी पूजा करनी चाहिए नहीं तो कर्तव्य से चुत हो जाना मैंने कहा आप चुत हो गए कोई प्रार्थना और प्रेम भी समय को देख के किए जाते हैं जब ठीक छह बज रहा है आप मुझे प्रेम करना चाहिए जब ठीक छह बज रहा है मुझे प्रार्थना करनी चाहिए तो कर्तव्य से मैं चुत हो जाऊंगा ये सब जो हमारी अत्यंत हृदय ही चित्त की दशा है उसका ये सारा का सारा परिणाम नहीं तो परमात्मा इस सारे संसार में बोझ को भी बोझ नहीं होगा अगर रह गई उसको ये बोझ नहीं हुआ अभी तक उसने संन्यास नहीं लिया अभी आपको पता है परमात्मा ने अभी तक संन्यास नहीं लिया अगर परमात्मा संन्यास ले संसार तो समाप्त हो जाए लेकिन आप और संन्यास लेते परमात्मा अगर कहीं होगा तो वो प्रेम से भरा होगा उसका हृदय पूरा का पूरा प्रेम होगा इसलिए झेलता है आनंद से झेलता है उसमें झेलना भी नहीं है सहना भी नहीं है उसका आनंद भी है लेकिन हम हम बात करें होते अगर आपके भीतर प्रेम हो तो सब बदल जाए तो गांधी कोई उन्नीस सौ पैंतीस या छत्तीस में कभी लंका गए उनके साथ कस्तूरबा भी गई और वहां कभी कभी तो महादेव उनके साथ थे था लेकिन उनकी कुछ भूल हुई और वो लोगों को नहीं बता पाए कि कस्तूरबा गांधी जी कौन मां बापू भी उनको कहते गांधी जी उनको बाप कहते थे तो वहां के लोगों ने समझा कि गांधी की मां जिस आदमी ने परिचय दिया उनका सभा में उसने कहा गांधी तो आए ही हैं बड़ी खुशी की बात उनकी मां भी उनके साथ है महादेव बहुत घबरा गए होंगे भूल हुई थी उनको बताना चाहिए था किसान को कौन है बापू क्या कहेंगे बहुत डांटेंगे तुमने ये क्या पागलपन करवाया इस पत्नी को मेरी मां कहलवा दी लेकिन गांधी भूल में खड़े हुए तो उन्होंने कहा एक भाई ने भूल से एक सच्ची बात कही कोई कुछ वर्षों से कुछ वर्षों के पहले बा मेरी पत्नी थी कुछ वर्षों से बा मेरी मां हो गई जब प्रेम गहरा होगा तो पत्नी को छोड़कर नहीं भागेंगे पत्नी मां हो जाएगी जब प्रेम बहुत गहरा होगा तो पत्नी को छोड़कर ही भागी से पत्नी मां हो जाए जब प्रेम बहुत गहरा होगा प्रार्थना बहुत सच्ची होगी मकान को छोड़कर नहीं भागेंगे मकान मंदिर हो जाए और हो जाना चाहिए अन्यथा आपकी भाग और कहीं नहीं ले जाएगी आप मंदिर में भी घुसेंगे और प्रार्थना झूठी है तो मंदिर मकान हो जाएगा क्योंकि तो मंदिर क्या करेगा सवाल तो भीतर हृदय का है सवाल तो भीतर हृदय का है आपके सब मंदिर मकान हैं क्योंकि आपके हृदय में प्रार्थना नहीं है प्रेम नहीं है और ऐसे लोग भी जमीन पर हुए हैं और होते हैं जिनका कोई मंदिर नहीं है लेकिन जिनके हृदय में प्रेम है जहां बैठते हैं वही मंदिर बने सवाल तो प्रेम का है लेकिन आप पूछते हैं कर्तव्य बिल्कुल तो मत पूछें कर्तव्य न पूछे और अगर कर्तव्य का ख्याल आता हो तो पहचान लें कि प्रेम की कमी नहीं कर्तव्य का ख्याल प्रेम के न होने की सूचना से ज्यादा नहीं है फिर कर्तव्य को तो थोपे नहीं पहचान जाए बीमारी की तरह प्रेम नहीं फिर प्रेम को जगाने के लिए कुछ करने की बात है प्रेम जगता है प्रेम मनुष्य का स्वभाव इसलिए प्रेम मनुष्य का स्वभाव है ऐसा प्राणी खोजना कठिन मनुष्य का प्राणी भी जो प्रेम न चाहता है ऐसा कोई प्राणी खोजना कठिन है जो प्रेम न चाहता हो और जब हम प्रेम चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं कहीं हमारे प्राणों के प्राण कहीं कोई प्यास है प्रेम के कहीं प्रेम की बड़ी गहरी गहरी आकांक्षा है और गहरी से गहरी आकांक्षा वही हो सकती है जो हमारा स्वरूप है जो अंतता है प्रेम हमारा स्वरूप है कि प्रेम की आकांक्षा प्रेम हमारे बहुत गहरे में हमारा स्वरूप है जिन्हें हम प्रेम मानते हैं और प्रेम देना चाहते हैं घर से भी जो भाग जाते हैं संसार को भी जो छोड़ देते हैं वे भी परमात्मा से प्रेम करते हैं परमात्मा से प्रेम मांगते हैं प्रेम से भागा हुआ मनुष्य आज तक कहीं देखा नहीं है सब कहीं से भाग जाए लेकिन प्रेम से नहीं भागता मीरा अपने पति को छोड़ के भाग गई होगी तो कृष्ण को पति कह देते प्रेम की आकांक्षा नहीं गई महावीर ने अपना घर छोड़ दिया होगा जिनको वो प्रेम करते थे उनको छोड़ दिया फिर जितने लोग उनको मैंने सबको प्रेम किया वही उनकी अहिंसा बन गई बुद्ध ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया होगा प्रेम से भागे होंगे लेकिन जब जीवन में ज्ञान का उदय हुआ तो सारे जगत में उनकी करुणा उनके प्रेम की भांति विस्तृत सवाल हमेशा प्रेम का है और प्रेम से कभी कोई भाग नहीं सकता इसलिए प्रेम मनुष्य के बहुत गहरे स्वरूप का हिस्सा है अगर हम अपने भीतर प्रवेश करें अगर हम अपनी गहराइयों में जाएं तो हमारे भीतर प्रेम के झरने फूटने शुरू हो जाए इसलिए ज्ञानी का लक्षण प्रेम अज्ञानी का लक्षण अप्रेम और अगर कभी कोई ज्ञानी आपको प्रेम शून्य दिखाई पड़ता हो समझना ये जड़ है इसको कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं होता ज्ञानी का लक्ष्य प्रेम है फिर चाहे उसे अहिंसा कहें करुणा कहें कुछ और कहें लेकिन ज्ञान जब आता है तो प्रेम उसके साथ ही आ जाता ज्ञान भीतर फलित होता है प्रेम चाहो तो बाहर फैल जाता है तो मैं आपको कर्तव्य की बात नहीं कह सकता मैं तो ये कह सकता हूं कि आपके भीतर प्रेम कैसे पैदा होगा अगर आप स्वयं को जानने में समर्थ हो जाए तो प्रेम पैदा होगा और प्रेम ही सब कुछ है प्रेम ही कर्तव्य है प्रेम ही पुण्य है और प्रेम ही धर्म है दिन हुआ है साधु हुआ उससे किसी ने जाके पूछा कि मैं कौन कौन से पाप करने बंद कर दूं आप मुझे लिखित आज्ञा दे दें मैं वे पाप बंद कर दू और मैं कौन कौन से पुण्य करूं वो भी आप लिखित आज्ञा दे दें मैं देही देही पुण्य करना शुरू कर दूं अगर दिन ने कहा तो तुम जरा सात दिन बाद क्योंकि सात दिन में मुझे सोचना पड़ेगा कि कितने पाप मनुष्य कर सकता है कितने पुण्य कर सकता है अगर कहीं एक आध को भी पाप छूट गए उस लिस्ट में से तो जुम्मा मेरे ऊपर हो जाएगा क्योंकि तुमने तो मुझ पर छोड़ दिया कि सारे पाप बता दो कि नहीं करना चाहिए मैं नहीं करूंगा सात दिन बाद वो आज था अगस्तीन ने कहा कि बड़ा कठिन काम है पाप तो अनगिनित है मैं गिनती करके बता दूंगा तो सेफ जो रह जाएंगे उनका क्या होगा उन भी अनगिनित है मैं गिनती करके बता दूंगा तो बड़ी मुश्किल पड़ जाऊंगा तो सात दिन का मैं क्या करूं मैं तो पूछने को तैयार हूं कोई भी बता दे कि कितने पाप छोड़ देने कितने पुण्य करने में करूंगा तीन ने कहा तो सात दिन और कृपा करना जरा और सोच लू सात दिन बाद फिर आया अगस्तीन ने कहा कि मैं तो बहुत घबरा गया लेकिन फिर एक मुझे ख्याल आ गया तू प्रेम कर सिद्धांत का कितने ही तू प्रेम कर जो तेरे प्रेम के विरोध में जाए समझना पाप है जो तेरे प्रेम के पक्ष में पड़ जाए समझ लेना लिस्ट नहीं बनाई जाती तो वस्तुता कोई कर्तव्य नहीं है कोई अकर्तव्य नहीं है प्रेम कर्तव्य है और अप्रेम अकर्तव्य है अगर प्रेम है तो जो आप जो भी करेंगे वो ठीक होगा और अगर प्रेम नहीं है तो आप जो भी करेंगे वो गलत होगा अपने भीतर टटोल लेना और देखना कि प्रेम है या नहीं अगर प्रेम नहीं तो जो भी आप कर रहे हैं अगर है और अगर प्रेम है तो जो भी आप कर रहे हैं धर्म इसी संबंध में एक बात और पूछी है पूछा है में इस वक्त इतनी दरिद्रता है इतनी परेशानी है और धार्मिक लोग मंदिरों में बैठ कर पूजा प्रार्थना करते हैं संत महात्माओं की शिक्षाएं हैं खासकर इस मुल्क में लोग तो न कोई सेवा करता है न कोई दरिद्रता को मिटाने की कोशिश करता है ठीक पूछा है बिल्कुल ही ठीक बात है अगर ये प्रार्थनाएं सच्ची हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर प्रेम सच्चा हो अगर धर्म भीतर हो तो सेवा में बदलना चाहिए जापान में एक विष्णु था उसने सबसे पहले बुद्ध के वचनों को जापान में अनुवादित करवाया बहुत बड़ा काम था बुद्ध के सारे ग्रंथों का जापान में अनुवाद बहुत बड़ा काम था वो फकीर को भिटूंगा था उसके पास से एक पैसा नहीं था बहुत बड़े बड़े स्कॉलर बड़े बड़े पंडित लगा के अनुवाद का काम होना था बहुत हजारों रुपये का खर्च उस फकीर ने गांव गांव घूम के रुपये इकट्ठे किए दस हजार रुपया दस साल में वो इकट्ठा कर पाया तभी जब रुपये इकट्ठे हुए तो उसके क्षेत्र में अकाल पड़ गया तो उसने सारा रुपया अकाल में लगा दिया फिर सारा भूमा दस साल फिर बीते फिर उसने दस हजार रुपये इकट्ठे किए तभी वहां भूकंप आ गया और उसको फिर दस हजार रुपये भूकंप में लगा दिया तब वो सत्तर वर्ष का हो चुका फिर वो वहां में अस्सी वर्ष की उम्र हो रही है फिर वो गांव गांव निकला लोग का तुम अजीब पागल वो बार बार आ जाते हैं उसने कहा दो एडिशन तो निकल गया भगवान की वाणी के एक और निकाल उसने कहा दो एडिशन दो संस्करण तो भगवान की वाणी के निकल गए तब एक और निकालना और श्रेष्ठ तो निकल चुके हैं जो बचा है अश्रेष्ठ उसको भी निकाल में फिर उसने दस हजार रुपये इकट्ठे किए जब वो नब्बे वर्ष का हुआ तब कहीं वो रुपया काम में लग पाया कुछ ग्रंथ प्रकाशित हुए जब लोगों ने उससे कहा कि तुम प्रसन्न हो अपने काम पर तो उसने कहा कि जो दो पहले निकल चुके हैं उनका कोई मुकाबला नहीं ये तो ठीक है ये भी ठीक ये ये आदमी धार्मिक आदमी है धार्मिक आदमी परमात्मा को पहले रखे और मनुष्य को पीछे रखे ये हो नहीं सकता धार्मिक आदमी मनुष्य को पीड़ित मनुष्य को परमात्मा के हमेशा आगे और ऊपर रखेगा एक दफा परमात्मा को छोड़ने पर राज्य हो जाएगा दुखी और पीड़ित मनुष्य को क्योंकि उसकी निकटता में ही उसकी प्रार्थना में ही उसके प्रेम में ही उसकी सेवा में ही उसे उसका दर्शन होगा जो सबके भीतर छिपा क्रूर मन ये क्रूर मन ही होंगे मुल्क भूखा मरता हो और वो यज्ञ में पैसा बर्बाद करते हो ये दुष्ट जन ही होंगे तो मुल्क भूखा मरता हो और वो बाइबल की प्रतियां और रामायण की प्रतियां छाप छाप के रुपए खर्च करते हुए लोगों में बांटते हैं ये क्रूर वायलेंस हिंसक मन हो सकते हैं मनुष्य भूखा मरता हो और मंदिरों में धन इकट्ठा होता हो और वहां संगमल के, के महल खड़े होते मनुष्य मर रहा हो और भगवान की सेवा हो रही हो ये वायलेंट माइंड हिंसक मन का लक्षण है ये कोई धार्मिक जीवन का लक्षण नहीं ये ठीक पूछा है कि होना चाहिए धार्मिक जीवन का लक्षण सेवा होनी चाहिए लेकिन इससे कोई यह समझ ले ये जो मूल में कथा कथित सेवक है इनके मैं पक्ष में ये जो तथाकथित सेवक है जो कहते हैं हम सेवा करना चाहते हैं इनके मैं पक्ष में नहीं क्योंकि मैं मानता हूं अगर भीतर ज्ञान न हो तो बाहर सेवा नहीं हो सकती सेवा नाम शोषण हो सेवक के नाम से भी दंभ का ही पोषण होगा सेवक भी कुछ दिखने और होने की कोशिश में सेवा करेगा सेवा साधन होगी उपलब्धि जहनदार की तृप्ति भी होगी भीतर ज्ञान हो तो भी जीवन में सेवा हो और नहीं तो सेवा झूठी हो सेवा का तो कोई मूल्य नहीं रह जाएगा सेवा का प्रश्न पैदा हुआ है सारी दुनिया में एक ख्याल है क्या करना है ध्यान से क्या करना है प्रेम से क्या करना है प्रार्थना से सेवा करो सेवा जरूर होनी चाहिए सेवा निकलनी चाहिए जैसा मैंने कहा कर्तव्य निकलना चाहिए वैसे सेवा निकलनी चाहिए जब कोई व्यक्ति भीतर प्रेम से भर जाता है तो उसका उठना उसका बैठना उसका सांस लेना भी सेवा हो जाता है और जब कोई व्यक्ति भीतर ज्ञान और प्रेम से भरा हुआ नहीं होता तो वो चाहे सेवा भी करे उसका उठना बैठना उसका सांस लेना सब विषाक्त होता है सबसे वो प्रायोजन देखता है चाहे असल में जो हमारे भीतर नहीं है उसे हम बाहर दे कैसे सकते हैं बाहर देने के लिए भीतर होना चाहिए अगर हम कुएं में बाल्टियां डालें उसमें पानी ही ना हो तो बाल्टियां खाली वापस लौट आएंगी जो कुएं में है वही बाहर आ सकता है जो मेरे भीतर है वही मेरे एक्शंस में मेरी क्रियाओं में बाहर आ सकता है भीतर अगर प्रेम नहीं है तो बाहर सेवा कैसे आएगी बाहर सेवा नहीं आ सकती मैं सेवा के पक्ष में हूं लेकिन उस सेवा के लिए जो प्रचलित है उस सेवा के पक्ष में जो प्रेम से पैदा हो प्रेम से निष्पन्न जो प्रार्थना से आए जो ध्यान से आए जो आत्म जागरण से आए वही सेवा सच्ची हो सकती इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा सेवक वही होता है जो सबसे पहले अपनी सेवा में पूरा हो जाए इसलिए वही व्यक्ति केवल परास्त कर सकता है जो कम से कम इतना स्वार्थ साध ले कि स्वयं को जानते हैं जो स्वयं को जानने के स्वार्थ को अभी पूरा नहीं किया है उसके खराब की सब बातें बकवास होंगी तो उनसे दुनिया में लाभ कम हानि ज्यादा और दुनिया में अगर ये दुनिया का सुधार करने वाले सेवक दुनिया को बदलने वाले लोग समाज में क्रांति लाने वाले लोग कम हो तो दुनिया में उपद्रव कम हो जाए इन सारे लोगों ने बहुत उपद्रव फैला रखा है ये जो हितकांक्षी हैं ये जो कुशल क्षेम चाहने वाले लोग हैं ये उपद्रव की बहुत गहरी जड़ है सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति अपने को बदले उसकी बदलाव से उसके आसपास क्रांति और परिवर्तन शुरू हो जब कोई फूल खिलता है तो गंध बिखरती है और जब कोई दिया जलता है तो प्रकाश फैलता है कोई प्रकाश फैलाने के लिए दिए को जाना नहीं पड़ता और न फूल को गंध फैलाने के लिए किसी की सेवा करनी पड़ती है गंध हो तो गंध फैलती है और फैलना सेवा हो जाता है अगर आपके भीतर प्रेम है तो आप जो भी करेंगे वही सेवा है आपसे जो भी होगा वही सेवा और प्रेम से निष्पन्न सेवा ही प्रार्थना वही परमात्मा के निकट तक पहुंचने का मार्ग पूछा अच्छा है अंतिम दो प्रश्नों के और मैं बात कर लेता हूं प्रश्न तो बहुत है फिर वो रह जाएंगे लेकिन मेरी दृष्टि अगर आपको ख्याल में आ जाए तो आप मान ले सकते हैं कि मैंने उनका भी उत्तर दिया है जिनका भी उत्तर नहीं दे रहा मेरी दृष्टि आपके ख्याल में आ जाए तो उनका उत्तर भी आप विचार कर सकते हैं कि मैं क्या कहना पूछा है सत्य क्या है और कैसे जाना जा सकता है उसका अनुभव क्या है सत्य ईश्वर है या ईश्वर सत्य है जब भी हम पूछते हैं कि सत्य क्या है तो ऐसा ख्याल होता है हम सत्य से अलग हैं और सत्य हमसे अलग है हाँ, हम जानने वाले हैं और सत्य जाने जाने वाली चीज है जब भी हम पूछते हैं सत्य क्या है तो हम ऐसे पूछते हैं फर्नीचर क्या है मकान क्या है दुकान क्या है हम अलग हैं और ये चीजें अलग हैं सत्य इस तरह की बात नहीं है कि आप उससे अलग हैं आप सत्य से अलग नहीं सत्य से एक ही इसलिए शब्द को दूर खड़े होकर नहीं देखा जा सकता और इसलिए शब्द को डिफाइन करने की मुश्किल है सत्य की परिभाषा इसलिए नहीं हो पाती कि उसे हम दूर खड़े होकर देखते हैं जब हम सत्य को जानने में समर्थ होते हैं तब दो नहीं होते वहां जानने वाला और जो जाना गया ऐसा कुछ अलग नहीं होता एक ही रह जाता है जानना ही रह जाता है सत्य कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमने देखा और जाना सत्य आपसे अलग नहीं है आपसे पृथक नहीं है आप सत्य ही हो आप स्वयं ही अपनी गहराइयों में सत्य हो तो सत्य को आप जान नहीं सकोगे क्योंकि जानने के लिए दूरी कहां होगी पर्सपेक्टिव कहां होगा फासला कहां होगा हम उसे जान सकते हैं जो हमसे दूर है और यही तो दिक्कत है हम संसार को बिल्कुल मजे से जान रहे हैं और सत्य को नहीं जान रहे सत्य को नहीं जान रहे इसीलिए कि सत्य को ऑब्जेक्ट वस्तु नहीं बनाया जा सकता उसे ग्रस्त नहीं बनाया जा सकता आप खुद ही वही हो तो सत्य को जानने का अर्थ होगा जब आपका सब जानना बंद हो जाए आप कुछ भी ना जान रहे हो क्योंकि जब तक आप कुछ भी जान रहे हैं तब तक कोई ना कोई चीज मौजूद रहेगी जिसको आप जान रहे हैं और जब तक कोई चीज मौजूद रहेगी तब तक आप अपने को नहीं जान सकते सत्य को जानने का अर्थ हुआ जब आप कुछ भी नहीं जान रहे जब बाहर जानने को कुछ भी शेष नहीं रह गया बाहर सब खाली है अनंत शून्य है बाहर और कुछ भी जानने को शेष नहीं कोई ऑब्जेक्ट नहीं उस घड़ी आपके भीतर जो शेष रह गए आप उसका आपको बोध होगा स्मरण एक स्मरण जगह जगेगी कि मैं कौन हूं और वही स्मृति सत्य वही बोध सत्य मैं सदा एक कहानी करता रहा हूं मुझे प्रीति कर रही कुछ बात जानने से साथ एक साथ हुआ वो एक पहाड़ी के किनारे चुपचाप खड़ा है बहुत देर से तीन मित्र वहां घूमने निकले हैं वे देख रहे हैं कि वहां खड़ा और उन्होंने सोचा कि बाद में वहां क्या करता एक लताड़ जो गुजरना समाप्त होता है उसके पास एक गाय है वो कभी कभी खो जाती है तो ऊपर पहाड़ी पे के घूमता की गाय का शायद वो गाय खोजने के लिए आज फिर गया शायद आज फिर गाय खो गई दूसरे मित्र ने कहा उसे देख के ऐसा नहीं लगता वो तो आंख भी नहीं घुमा के देख रहा है कहीं कि कुछ खोजता हो उसकी आंखों से खोज का पता नहीं चलता तो ऐसा मालूम पड़ता है कोई मित्र साथ घूमने गया होगा वो पीछे छूट गया है तो रुक को उसकी प्रतीक्षा कर रहा है वो आ जाए तो आगे बढ़ेगा तीस मिनट का उसे देख के ऐसा भी नहीं लगता कि वो प्रतीक्षा में तो वो पीछे लौट के एक दफे नहीं देखता जो प्रतीक्षा में होता है वो पीछे लौट लौट के देखता है कि शायद कोई आ जाए शायद अब करीब आ गया वो प्रतीक्षा में नहीं मालूम होता मुझे तो ऐसा लगता है वो परमात्मा के ध्यान में परमात्मा की प्रार्थना में वे तीनों निर्णय नहीं कर सके वो उसके पास गए और उन्होंने कहा अच्छा हो तो उसी से पूछ लेंगे कि मुझे क्या करते उन्होंने जाकर उससे पूछा महानुभाव आप यहां खड़े होकर क्या कर रहे हैं उस पहले आदमी ने कहा क्या आप अपनी गाय खोज रहे हैं उसने कहा कैसी गाय किसकी गाय तो साधु ने कहा कैसी गाय किसकी गाय कौन खोजने वाला कौन खोज जाने वाला मैं कुछ नहीं खोज रहा उस आदमी ने कहा ठीक है मैंने पहले कहा क्या आप किसी मित्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं उसने कहा कैसा मित्र कैसा शत्रु कैसी प्रतीक्षा कौन प्रतीक्षा कर रहे हैं मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा तीसरे आदमी का मैंने पहले कहा था कि दोनों बातें गलत है निश्चित ही अब तीसरी बात सही है हाँ ईश्वर की प्रार्थना या ईश्वर का ध्यान करना उसने कहा कैसा ईश्वर कैसी प्रार्थना कैसा ध्यान मैं कुछ भी नहीं करता मैं तो बस खड़ा हूं जस्ट स्टैंडिंग कुछ भी नहीं कर रहा मैं तो बस खड़ा हूं जरा कल्पना करें अभी तो कल्पना ही कर सकते हैं एक आदमी की जो बस खड़ा है और कुछ भी नहीं कर रहा जिसके मन में कुछ भी नहीं हो रहा न कोई खोज है न कोई प्रतीक्षा है न कोई ध्यान है न कोई प्रार्थना है जो बस मौन खड़ा है जिसकी मन की ज्योति बिल्कुल ठहर गई जिसके भीतर कोई कंपन नहीं है कोई लहर नहीं ऐसे मनुष्य की जो भाव दशा है उसमें जो जाना जाता है वो सत्य ऐसे मनुष्य की जो भाव दशा है उसमें जो जाना जाता है वही ईश्वर है सत्य और ईश्वर तो सत्य नहीं है सत्य और ईश्वर दो चीजें नहीं है कहने के तो ढंग है आत्मा कहें कुछ तो और लोगों कुछ और कहें कोई कहने से फर्क नहीं पड़ता क्या आप नाम देते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन उस क्षण में जाना जाता है वही जाना जानने योग्य है वही है जो जाना जाए और उस एक के जान लेने से उस शांत निष्पन्न चित्र की दशा में उस एक को पहचान लेने से खुद जो शेष रह जाता है उससे परिचित हो जाने पर सब ज्ञान के द्वार खुल जाए सारा अज्ञान विसर्जित हो तो सत्य क्या है ये नहीं कहा जा सकता सत्य कैसे जाना जा सकता है ये जरूर कहा जा सकता है एक अंधा आदमी पूछे प्रकाश क्या है क्या कहिएगा तो नहीं कहा जा सकता कि प्रकाश क्या है लेकिन ये कहा जा सकता है कि आंखें कैसे खोली जा सकती अगर आप आंख बंद किए खड़े हों बाहर हम उससे पूछे प्रकाश क्या है तो मैं क्या कहूंगा मैं कहूंगा ये तो नहीं कहा जा सकता कि प्रकाश क्या है लेकिन ये बताया जा सकता है कि आंख कैसे खोली जा सकती और आंख खुल जाए तो जो अनुभव में आता है वो प्रकाश है चित्त खुल जाए तो जो अनुभव में आता वो सब वो ईश्वर इसलिए जो ईश्वर की परिभाषा करते हैं वे गलत काम करते हैं ईश्वर की परिभाषा करने वाले लोग तो ईश्वर को नहीं जानते जो बता देते हैं कि ईश्वर क्या है वे पंडित हैं शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं लेकिन ईश्वर को जानने वाले नहीं ईश्वर कोई वस्तु नहीं है कि इशारा कर दिया कि यह है जिस चीज की तरफ भी इशारा किया जा सके वो कुछ भी हो ईश्वर नहीं होगा और जिस चीज की भी परिभाषा की जा सके वो कुछ भी वो ईश्वर नहीं होगा और जिस चीज को भी शब्द दिए जा सके वो कुछ भी हो ईश्वर नहीं होगा ईश्वर को कुछ भी कहना संभव नहीं है क्योंकि जब हम जानते हैं तो हम उसे अलग नहीं जानते अपने ही होने में अपनी ही सत्ता में अपने ही आत्यंतिक एग्जिस्टेंस में हम उसे एक हुआ जानते एक रामकृष्ण एक बात कहा करते थे वर्ण से कौन रामकृष्ण कहा करते थे एक बार ऐसा हुआ एक समुद्र के किनारे बहुत बड़ा मेला समुद्र था गहरा अथाय था पानी बहुत की भीड़ मेले में बहुत से लोग वे सब समुद्र के किनारे गए उसमें कुछ ग्रामीण जन भी थे उन्होंने सोचा ये समुद्र कितना गहरा हो कोई पता लगाए और कभी वहां घूमता हुआ उस मेले में नमक का पुतला भी आ गया और उसने का पता लगाना है मैं कूदा जाता हूं अब भी पता लगा वो नमक का पुतला उस समुद्र में कूद गया सारा मेला वहां इकट्ठा हो गया एक आदमी समुद्र का पता लगाने गया लेकिन वो पुतला कभी लौटा क्योंकि नमक का पुतला था वो तो समुद्र का पता लगाने गया तो पिघल के समुद्र के साथ एक हो गया उसने कोई लौट के खबर नहीं दी कि समुद्र कितना गहरा है और क्या है जिन लोगों ने ईश्वर को खोजने की कोशिश की है तो नमक के टुकड़े सिद्ध हुए हैं और ईश्वर समुद्र सिद्ध हुआ है तो जब उसमें गए तो पाया कि वे ही पिघल के विलीन हो गए हैं लौट के खबर देने को कुछ नहीं रहता इसलिए आज तक ईश्वर के संबंध में जो भी कहा गया है वो असत्य है और जो नहीं कहा गया वही सत्य है जो भी परिभाषा की गई है वो व्यर्थ दो कोने की है और जो अपरिभाष छूट गया पर जो छूट गया है वही सत्य है उसका ही मूल्य है मैं तो परिभाषा नहीं करता न की जा सकती है और अगर कभी कोई करे तो संदिग्ध हो जाना सचेत हो जाना कि बात गड़बड़ है तो ये उतना शायद फिर अभी पानी में उतरा नहीं तो परिभाषा आसान तो जब उतरेंगे गहरे तो पानी की कोई परिभाषा नहीं खुद का ही मिट जाना जहां आप बिल्कुल मिट जाए और आपका कुछ भी शेष न रह जाए समझना ईश्वर का मुकाम आ गया जहां आप बिल्कुल मिट जाए और आपका कुछ भी शेष न रह जाए आपका नमक का पुतला बिल्कुल पिघल जाए और खोजे से भी ना मिले समझना सागर की गहराई आ तो क्या मुझे ये कहने की आज्ञा देंगे कि जहां आप बिल्कुल मिल जाते हैं वही ईश्वर है और क्या मुझे कहने की आज्ञा देंगे कि जहां आप मिट जाते हैं वही आपका वास्तविक होना है जो मिटता है वो लेता है जो खो देता है अपने को वो उपलब्ध हो